परम पिता परमात्मा का स्मरण ज्ञान स्वरूप सर्वज्ञ परमात्मा प्रणव ध्वनि प्रेमी सज्जनों परमात्मा को हम विभिन्न नामों से पुकारते हैं और परमात्मा के विभिन्न गुणों को उसके संबोधन में जोड़ते हुए उस तरह की भावना रखते हुए पुकारते हैं परमात्मा की स्तुति और प्रार्थना परमात्मा को ठीक प्रकार से जानने पर ठीक हो पाती है जिससे हम प्रार्थना कर रहे हैं उसका स्वरूप ठीक ठीक हमें पता हो तो प्रार्थना उतनी ही उचित शुद्ध बनेगी इसी तरह से किसी की स्तुति भी तभी शुद्ध बनती है जब हम उस वस्तु के बारे में अधिक से अधिक या पूरा जानते हो हमारी स्तुति और प्रार्थना की गहराई हमारे परमात्मा के बारे में ज्ञान की व्यापकता पर निर्भर करती है और उसकी गंभीरता उसी पर निर्भर करती है महर्षि ने आर्यभिविनय के प्रथम मंत्र के व्याख्यान में बहुत सारे संबोधन दिए मैसी के मन में कुछ भाव रहा होगा इसलिए इतने सारे संबोधन दिए आगे के मंत्रों की व्याख्या में यथास्थान यथा प्रार्थना यथा स्तुति वेद मंत्र के शब्दों के अनुरूप अनेक संबोधन दिए हैं यथास्थान वहां भी संबोधन दिए हैं संबोधन वहां भी बहुत अच्छे अच्छे हैं और संबोधनों की कोई कमी नहीं है लेकिन फिर भी आर्याभिविनय को प्रारंभ करते हुए प्रथम मंत्र की व्याख्या में उन्होंने इतने सारे संबोधन किए हैं महर्षि दयानंद परमात्मा को जिस तरह स्वीकार करते थे जिस भावना से युक्त होके वो स्तुति और प्रार्थना किया करते थे ये आर्य विनय उसकी झलक है उसका द्योतन है महर्षि दयानंद को जो मंत्र प्रिय थे जिस तरह का भाव वो परमात्मा के प्रति अधिक रखते थे विचारते थे उसके अनुरूप आचरण करते थे स्वभावतः उन्हीं मंत्रों का उन्होंने इसमें संग्रह किया होगा और जिन संबोधनों को परमात्मा के लिए महर्षि ने दिया है उस तरह के वो संबोधन भी करते होंगे तो महर्षि के द्वारा लिखे गए संबोधनों के अनुसार हम भी अपने संबोधन बनाने का प्रयास कर रहे हैं तो दूसरे संबोधन में महर्षि ने कहा हे नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव परमात्मा नित्य स्वभाव वाला है शुद्ध स्वभाव वाला है बुद्ध स्वभाव वाला है और मुक्त स्वभाव वाला है आज बुद्ध स्वभाव पर ध्यान केंद्रित करते हैं बुद्ध का मतलब है जिसने चीजों को जान लिया है जो वस्तुओं को क्रियाओं को गुणों को जानता है जान सकता है जानने की सामर्थ्य से युक्त है परमात्मा समस्त जगत को और समस्त जगत में विद्यमान समस्त प्राणियों को उन प्राणियों के समस्त कर्मों को उन प्राणियों के समस्त विचारों को वृत्तियों को भावों को जानने वाला है जानता रहता है पहले भी जानता रहा है और आगे भी जानता रहेगा इस जगत में कोई वस्तु कोई गुण कोई क्रिया कोई व्यक्ति कोई विचार ऐसा नहीं है जिससे वो अवगत ना हो क्योंकि वो सर्वव्यापक है चेतन है इसलिए वो प्रत्येक को ठीक प्रकार से यथावत जान रहा है और उसका ये जानना हर क्षण चल रहा है पीछे उसने जाना है कौन सी वस्तु कैसे बनती है कैसे चलती है कैसे उसका पालन पोषण होता है रक्षण होता है और कैसे उसको परिवर्तित करके पुनः प्रकृति में मिलाया जाता है वो सब जानता है और वर्तमान में भी हर चीज को हर क्रिया को वो यथावत जान रहा है परमात्मा के प्रति ये भाव कि वो बुद्ध है बुद्ध स्वभाव वाला है सदा ज्ञानशील है साधक व्यक्ति के लिए आध्यात्मिक व्यक्ति के लिए एक महत्वपूर्ण बिंदु है परमात्मा बहुत अधिक जानता है वो सर्वज्ञ है ये प्राय हम सभी धार्मिक व्यक्ति अपने मन में रखते हैं बोलते हैं स्वीकार करते हैं लेकिन परमात्मा कितना अधिक जानता है परमात्मा बुद्ध स्वभाव वाला है तो वो कितना अधिक है इसकी परिगणना इसका आकलन हम प्राय नहीं कर पाते संसार में बहुत सारी क्रियाएं होती हैं लौकिक उदाहरण दें कि संसार में विभिन्न फल उत्पन्न होते हैं सब्जियां उत्पन्न होती हैं गेहूं उत्पन्न होता है हम उसके बारे में सोचें कितना होता है जो बहुत होता है इस ठेले पे फल हैं उस ठेले पे फल हैं इस गोदाम में फल हैं ये फल का बाजार है ट्रक के ट्रक उतर रहे हैं जब हम सामान्यतया फलों को देखें घरों में और ठेलों पर तो एक व्यापकता पता लगती है बहुत फल है लेकिन जब हम फल मंडी में जाते हैं तब जो भाव बनता है इतने फल इतनी पेटियां अनार की आम के इतने और इतने ट्रक इतने खरीदने वाले वो एक अलग बोध बनते हैं हमें पता नहीं लगता है हम वैसे कल्पना करने लगते हैं कि कितने फल होते होंगे किसी एक फल को भी ले लें तो वो कितना होता होगा और भारत में कितना होता होगा हम कितनी भी कल्पना करते हैं हम उस वास्तविकता तक नहीं पहुंच पाते कि कितना फल होता होगा क्योंकि हमारी कल्पना करने की एक सीमा होती है लेकिन जब हम बड़े बड़े शहरों के गोदामों में जाकर के देखेंगे प्रतिदिन कितने ट्रक फल सब्जी आती हैं जाती हैं वो सुनेंगे किसी राज्य का एक राज्य का आंकड़ा लेंगे कि इतने ट्रक या इतनी पेटियां सेव हुए इतना आम हुआ इतने क्विंटल हुआ इतने टन हुआ कितना आकलन करेंगे जो आंकड़े पता लगते हैं तो वो ज्ञान हमारा अलग होता है उसके बिना हम उतनी व्यापक कल्पना कर नहीं पाते हैं कितने करोड़ अरब खरब रुपए इस फल व्यापार में लगे हैं हमारे को अंदाजा ही नहीं हमें लगता बहुत होंगे वो बहुत कितने हम नहीं जान पाते पूरा संसार के मनुष्यों की संख्या हमें पता लग गई इतने अरब व्यक्ति हैं सात आठ अरब व्यक्ति हैं संख्या भी पता लग गई तो उसकी व्यापकता गंभीरता हमारे दिमाग में नहीं आती है कि इतने अरब व्यक्तियों का मतलब क्या होता है हम हजार लाख व्यक्ति समझते हैं लाख व्यक्ति बहुत होते हैं लेकिन जब किसी सभा में किसी मेले में कुंभ के मेले में जब इतने लाख व्यक्तियों को देखते हैं तब एक आभास होता है कि इतने लाख का मतलब क्या होता है ऐसा लगता है कोई और छोर नहीं है कुछ लाख व्यक्तियों में लगता है कोई और छोर नहीं है बड़े शहर की आबादी इतनी है वहां इतनी कारें हैं आंकड़ा सुनकर के भी वो बोध नहीं होता जब वहां कभी खड़े होते हैं सड़क के किनारे या टोल के ऊपर पंक्तियां की पंक्तियां किलोमीटर तक लग जाती है आधा घंटे यदि जाम लग जाए तो किलोमीटर तक कारें और कारें दोनों तरफ जाम हो जाता है उसको साफ करने में कितना समय लगता है एक छोटे से शहर में खड़े हो जाओ तो कारों को गाड़ियों को मोटरसाइकिलों को देखते देखते लगेगा जैसे कि इनकी कोई सीमा ही नहीं है हम गिन नहीं सकते कितनी है इतने लोग कहां आ रहे हैं जा रहे हैं ये आभास हमें तब होता है केवल आंकड़े सुनने से भी नहीं होता ये मैंने कुछ लौकिक उदाहरण दिए कि किसी वस्तु के बारे में हमारा ज्ञान हमें किस तरह प्रभावित करता है कितना प्रभावित करता है और कब प्रभावित करता है जिस व्यक्ति को इन वस्तुओं की ज्ञान की व्यापकता नहीं है वो उस वस्तु से उतना प्रभावित नहीं हो सकता भले ही कह रहे भारत बहुत बड़ा देश है लेकिन कितना बड़ा देश है ये जो घूमता है उसे पता लगता है लंबी लंबी यात्राएं करता है तो पता लगता है तरह तरह की भाषाएं व्यक्ति खानपान वस्त्रभूषा देखता है तो व्यापकता पता लगती है कि कितनी विविधता है ऐसे ही परमात्मा को हम बुद्ध स्वभाव वाला मानते हैं ज्ञानवान मानते हैं सर्वज्ञ मानते हैं लेकिन हमारा मस्तिष्क परमात्मा को कितना ज्ञानवान मान रहा है ये सबका अलग अलग होता है हम मोटे तौर पे कह देते हैं इतनी बड़ी धरती बनाई जिसने इतने ग्रह नक्षत्र बनाए जिसने उसका ज्ञान कितना होगा अब कहने में तो हम कह रहे हैं कि इतनी बड़ी धरती लेकिन उस धरती की विराटता क्या है ये भी हमें बोध नहीं है उतना जितना किसी वैज्ञानिक को या अच्छी तरह देखने वाले को होते हैं तो इतनी बड़ी पृथ्वी जिसने बनाई ये कहते हुए भी परमात्मा के ज्ञान तक उसकी था तक उसकी व्यापकता तक हम उतने नहीं पहुंच पाते जितने की धरती को अधिक जानने वाला पहुंचता हम शरीर को लेकर के कहते हैं ये कितना विचित्र शरीर बनाया हुआ है परमात्मा का ज्ञान कितना है कैसे देखते हैं सुनते हैं चखते हैं हमें कुछ पता ही नहीं है इतना सारा कार्य हो रहा है हमारा हमारे लिए कितनी व्यवस्थाएं हैं खाना पीना गंदगी हो तो मलमूत्र का निकलना अन्न का उत्पादन कैसे कैसे सारी चीजें बनी हुई हैं कैसे कैसे सामंजस्य बना हुआ है बड़ा अद्भुत लगता है लेकिन हमें शरीर के बारे में चूंकि उतना गहराई से ज्ञान नहीं होता तो आश्चर्यचकित होते हुए भी परमात्मा के ज्ञान की था परमात्मा के ज्ञान की व्यापकता हमारे मन में उतनी ही रहती है जितना हमारा उस वस्तु के बारे में ज्ञान है बहुत अधिक नहीं होती हम कह भले ही दें शब्दों का प्रयोग करें कि बहुत बड़ा है बहुत अधिक ज्ञान है उसका लेकिन वो बहुत अधिक ज्ञान कितना है ये हर व्यक्ति के मस्तिष्क के अनुसार बहुत भिन्नता होती है बहुत भिन्नता बहुत न्यून और बहुत अधिक परमात्मा का ज्ञान कितना है ये परमात्मा की बनाई हुई रचनाओं से हमें पता लगता है आज के वेद मंत्र में भी जो स्वाध्याय में आया भद्रम कर्णी भी श्रृणुयाम देवा भद्रम पश्ये यह यजत्रा ये कान और नेत्र दो इंद्रिय सबसे महत्वपूर्ण इनकी कितनी महत्ता है ये कैसे काम करते हैं अपने आप में अति अद्भुत जब आधुनिक विज्ञान ने जिस तरह से इसकी शरीर की इंद्रियों की रचना और क्रिया के बारे में बताया फिजियोलॉजी और एनाटॉमी के बारे में उसको देखे कैसी अद्भुत रचना है छोटी छोटी चीजें बहुत सी बातें तो बाद में पता लगती हैं आज पता लगती हैं कान को छोटा सा लें अभी एक नया नया समाचार आया कि कान की रचना अब यूं तो हमें ये गड्ढा सा दिखता है बाहर से तो आवाज जाती है अंदर मल उत्पन्न होता है मल को हम कभी साफ कर लेते हैं लेकिन ये मल कितना महत्वपूर्ण है इसकी क्या उपादेयता है हमारे लिए उत्पन्न क्यों होता है तो ये जीवाणुओं को नाश करता है हमारी सुरक्षा करता है ये केवल गंदगी नहीं है और वैज्ञानिकों ने इसके परीक्षण अब किए तो इसके केवल जानकारी से पता लग जाता है इस व्यक्ति को ये ये रोग है निश्चित तौर पे तो सूचना है उसके अंदर है चाहे तो हम उपयोग कर सकते हैं उसका और एक बड़ी विचित्र बात जो मैंने तो बिल्कुल नई सुनी और नई पता लगी वैज्ञानिकों को कि कान की कोशिकाएं एक ही जगह पे नहीं रहती हैं वो चल करके बाहर की तरफ आती हैं खिसकते खिसकते जैसे कोई व्यक्ति इधर से उधर खिसकता जाए या किसी पट्टे पे पैकेट रखे हो मशीनों में एक से एक आगे खिसकते जाते हैं बड़ा विचित्र अब तक तो यही ज्ञान था कि कोशिकाएं जहां रहती हैं विभाजित होती हैं मरती हैं और वहीं रहती हैं लेकिन कान में ये व्यवस्था कर रखी है कि अंदर कोशिका उत्पन्न होती है और वो धीरे धीरे सरकते हुए बाहर की तरफ आती है जैसे कि हमारे नखून नाखून अंदर से निकलते हैं और धीरे धीरे बाहर की तरफ आते जाते हैं इस सरकना चलता रहता है वैसे हमारी त्वचा में भी नीचे से ऊपर होता रहता है नीचे से कोशिकाएं ऊपर आती रहती हैं ऊपर की परत मरती है नीचे वाली आ जाती है और ऐसे चलता रहता है नए नीचे नई नई बनती रहती है ऊपर से हटती रहती है लेकिन वही होता है वो और नखूनों का तो पता है कि भाई अंदर से बाहर आते हैं बनते हैं वो लेकिन कान में तो वैज्ञानिकों ने प्रयोग किया कान की कोशिका पे वहां कुछ चिन्ह लगाए कुछ दिनों बाद देखा तो वो चिन्ह खिसक करके बाहर की तरफ आ गए यानी जिस कोशिका का पे जिन स्थान पे उन्होंने चिन्ह लगाया था वो चिन्ह धीरे धीरे बाहर की तरफ सरक के आ रहा है वैज्ञानिकों ने कहा यदि ये व्यवस्था यहां नहीं होती तो हमारे कान को बहुत बाधा होती जैसे बाहर की त्वचा में मृत त्वचा होती है और वो हटती रहती है ऐसे वहां भी मृत त्वचा तो आएगी क्योंकि उसके बिना तो वो नई नहीं बन सकती मरेगी कोशिकाएं तो नहीं तो हमारा कान भर जाता और हम सुन भी नहीं पाते ढंग से अब इसमें तरीका है कि अंदर मल बनता है कोशिकाएं बाहर आती हैं धीरे धीरे अपने आप बाहर आता है और प्रक्रिया चलती रहती है सुनने का और हमारे मस्तिष्क का कितना जबरदस्त संबंध है सुन करके वैसा करना उनका आपस का कैसा सामंजस्य है विभिन्न शब्दों को सुनने से मस्तिष्क में कोशिकाएं परस्पर कैसे एक दूसरे से संबद्ध होती हैं नए नए संपर्क बनते हैं मस्तिष्क और विकसित होता चला जाता है भाषा का ज्ञान जितना जितना अच्छा व्यवस्थित होता है मस्तिष्क उतना विकसित होता चला जाता है शब्दार्थ संबंध बनाते बनाते जो व्यक्ति चलता जाता है उसका मस्तिष्क उतना अपना अधिक विकसित होता चला जाता है एक भाषा की जगह जो दो भाषाओं को जानता है तीन भाषाओं को जानता है उसका मस्तिष्क बहुत अधिक विकसित होता जाता है आज का विज्ञान बहुत मानता है को अपने मस्तिष्क की महत्ता वो जानते हैं तो दो भाषाओं को सीखो सुन करके देख करके इन सब का इंद्रियों का हमारे विकास में मस्तिष्क के विकास में बहुत अधिक प्रभाव है और ये यदि किसी का अच्छा है तो मस्तिष्क उसका बहुत अधिक विकसित होता है संगीत सुनना ही नहीं संगीत को बजाना करना ये जो क्रियाएं हैं सुन भी रहा है बजा भी रहा है और इनमें जो परस्पर तालमेल हो रहा है और जैसे संगीतकार देखते हैं एक सुर थोड़ा सा भी ऊपर नीचे होता तो एकदम पता लगता है उनको कि ये गलत हो रहा है सामान्य व्यक्ति को नहीं पता लगता तो इन सब को करते हुए मस्तिष्क और अधिक और अधिक विकसित होता चला जाता है तो परमात्मा ने व्यवस्था कर रखी है बड़ी विचित्र व्यवस्था है जो व्यक्ति इन इंद्रियों का जितना अच्छा उपयोग लेगा उसका मुक्ति का मार्ग उतना प्रशस्त होता चला जाएगा मस्तिष्क उतना खुलता चला जाएगा निर्णय की क्षमता उतनी अधिक बनती जाएगी वो अधिक अधिक ज्ञानवान होता चला जाएगा तो परमात्मा बुद्ध है सर्वज्ञ है जानता है और उसने हमें भी बुद्ध बनाने के लिए व्यवस्था कर रखी है ये अपने आप में बड़ी विचित्र बात है आत्मा चेतन है लेकिन उसका ज्ञान तो बहुत कम है ये मनुष्य परमात्मा को जान सके और अधिक अधिक ज्ञान को प्राप्त कर सके उसकी क्षमताएं बढ़ती जाए इसके लिए व्यवस्था उसने कर रखी है ऐसा वो बुद्ध है जानता है परमात्मा के एक एक चीज को जानते चले जाए परमात्मा कितना जानता है इसका बोध हमें तब पता लगता है एक कोशिका की रचना कितनी जटिल है और उसमें भी जो गुणसूत्र हैं जीन्स हैं क्रोमोजोम्स हैं वो कितने जटिल हैं और कितने बिल्कुल सटीक हैं एक्यूरेट हैं कैसे उनमें परमाणुओं का संयोजन होता है एक ऐसी विशिष्ट भाषा है जो कि भाषा हमारी सामान्य भी नहीं है बहुत विशिष्ट भाषा है किससे क्या होगा क्या रंग आएगा क्या बाल होंगे कितनी लंबाई चौड़ाई होगी कौन से रोग हो सकते हैं ये सारा का सारा वहां पर जमा है भरा हुआ है जैसे कि हमारा सारा प्रोग्राम किया गया योजना बना करके कोशिका में रख दिया गया और बहुत कुछ हमारा उसी के अनुसार होता रहता है हमारे प्रयत्न से भी उसमें परिवर्तन होता है उस रचना को देखिए आजकल जेनेटिक इंजीनियरिंग ये आने वाला है भविष्य का भविष्य में यही सब कुछ होने वाला है सारी चिकित्सा जेनेटिक इंजीनियरिंग से होने लग जाएगी उसकी कितनी सूक्ष्मता है बड़े बड़े कंप्यूटर करके तब उसको सारे गुणसूत्रों को जीनोम को देख पाए व्यवस्थित कर पाए मनुष्य तो देख भी नहीं सकता उनको जान भी नहीं सकता अपनी इन सामान्य इंद्रियों से लेकिन बुद्धि परमात्मा ने ऐसी दी यंत्र ऐसे बना सकते हैं कि इन सब का ज्ञान हम कर सकते हैं परमात्मा न केवल स्वयं जानता है बुद्ध है लेकिन वो हमें बुद्ध बनाने के लिए भी सतत प्रयत्नशील है हर क्षण हमारे लिए संवेदनाएं जाती हैं हमें केवल उन संवेदनाओं को उचित अनुचित रूप से देखना है हमें जागरूक होकर के इंद्रियों की संवेदनाओं को पकड़ना है इनसे कितना लाभ है कितनी हानि है और उस संवेदनाओं को देखते देखने की सामर्थ्य भी परमात्मा ने दी है और हम अगर समझते चले जाएं तो हम भी बुद्ध होते चले जाएंगे ज्ञानवान होते चले जाएंगे जिस तरह का ज्ञानवान परमात्मा हमें बनाना चाहता है उसके लिए सारी व्यवस्था उसने कर रखी है ऐसा वो बुद्ध है साधक के लिए अपने बारे में जानना कि मैं कैसा हूं एक बहुत महत्वपूर्ण बात है और साधक ही नहीं हर व्यक्ति इस बात के लिए बहुत जागरूक रहता है कि लोग मेरे बारे में क्या जानते हैं लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं मेरी छवि कैसी है मैं कैसा हूं इस बारे में जानने की इच्छा सबको है और प्राय हम दूसरों से ये जानते हैं कि मैं कैसा हूं अन्य मनुष्यों से आसपास वालों से उनकी प्रतिक्रियाओं से उसकी अपनी एक सीमा है उसका अपना एक लाभ है और हम क्या हैं ये एक हमारे को भी पता रहता है हम अपने से तो झूठ नहीं बोल सकते हम अपने से अपनी बात को छिपा नहीं सकते एक सीमा तक वो भी बोध होता है लेकिन हम प्राय उस तरह से अपने को समझते हैं जैसा कि दूसरे हमें समझते हैं लेकिन वो पूर्ण वास्तविक नहीं होता है और हम अपने को भी जैसा जानते हैं समझते हैं हम पूरी तरह से नहीं जानते हम स्वयं भ्रांति में आकर के कुछ चालबाजियां करके अपने को भिन्न भिन्न प्रकार का समझ लेते हैं अपनी त्रुटियों को भी कुछ अच्छाइयों के रूप में देख लेते हैं और अपने को अच्छा समझ लेते हैं धार्मिक साधक समझ लेते हैं तो अन्य व्यक्ति हमारे बारे में जाने हम अपने बारे में जाने हम पूरा नहीं जान सकते और भ्रांतियां होती हैं और न ही दूसरे व्यक्ति अपने बारे में ठीक ठीक पूरा जानते एक जीवन मुक्त योगी की बात छोड़ दीजिए नहीं तो सामान्यतः हम नहीं जानते लेकिन परमात्मा ऐसा बुद्ध है जानने वाला है जो अपने को बिल्कुल ठीक जानता है अपने प्रति उसमें कोई भ्रांति नहीं है और हमारे को भी ठीक ठीक वही जानते हैं हमें अपने प्रति कि मैं कैसा हूं इसे जानने की उत्सुकता रहती है और वो कैसे हमारी शांत हो और हम अपने को कैसा जाने तो परमात्मा बुद्ध है वो हमें ठीक ठीक जानता है तो जैसा परमात्मा हमें जानता है हम वैसे हैं वास्तव में दूसरे कैसा जानते हैं अच्छा या बुरा दोनों जगह भ्रांतियां हो सकती हैं बुरे को अच्छा समझा जा सकता है अच्छे को बुरा समझा जा सकता है लेकिन मैं कैसा हूं इसकी कसौटी जैसा परमात्मा मुझे जानता है परमात्मा की दृष्टि में मैं जितना अच्छा हूं मैं वास्तव में उतना ही अच्छा हूं और परमात्मा की दृष्टि में मैं जितना गलत हूं उतना ही मैं वास्तव में गलत हूं परमात्मा चूंकि बुद्ध है ज्ञान स्वरूप है सर्वज्ञ है ये भाव हमारे मन में जब रहेगा कि वही बिल्कुल ठीक ठीक जानता है तो हमारी सारी कसौटी अपने बारे में परमात्मा परख हो जाएगी हमें उत्सुकता है कि मैं क्या हूं कैसा हूं ये जानू तो अब हम उस व्यक्ति के प्रति अधिक आकर्षित नहीं होंगे जो मेरे बारे में बता रहा है एक सीमा तक उतना ही जानेंगे कि हाँ ये बता रहा है कुछ कुछ पता लगता है लेकिन वो अंतिम नहीं है मेरे बारे में हमें अपने बारे में जानने की इच्छा है हम स्वयं अपने को जानते हैं एक अंश तक ठीक है और साथ में हमारे मन में ये रहेगा कि मैं अपने को गलत भी जान सकता हूं इसलिए मैं अपने को जिस ढंग से जान रहा हूं मैं वैसा ही हूं ये अनिवार्य नहीं है उसमें भिन्नता है हो सकती है होती ही है तो अपने को जानने की भी जो इच्छा है वो परमात्मा परख ही रहे साधक के मन में कि परमात्मा आप बुद्ध हैं सर्वज्ञ हैं आप जैसे जानते हैं बस मैं वैसा ही हूं तो एक तो परमात्मा का अपना ज्ञान उसकी अति विशालता और उसको और अधिक समझने के लिए और अधिक उसके बनाए हुए कार्य जगत को समझना जानना ताकि परमात्मा की और सर्वज्ञता का पता लगे और उसमें हमें प्रभाव मिले उसको हम और दृढ़ता से सर्वज्ञ जान सकें बुद्ध जान सकें उस और प्रयत्नशील रहना और हम सबको वो जान रहा है दूसरा व्यक्ति अपने को जिस भी ढंग से प्रस्तुत कर रहा है अच्छा या बुरा छल कपट पूर्वक भी उससे भी हमें बहुत बेचैनी हो जाती है हमें पता लग रहा है और बहुत सी चीजें हमें हम ये भी कर सकते हैं परमात्मा को भी पता है तो ज्यादा कुछ उसमें बेचैन होने की बात नहीं है जितना उचित व्यवहार है उतना कर लिया नहीं तो इसी में हम पड़ जाते हैं परमात्मा की व्यवस्थाएं चल रही हैं वो जान रहा है और तद अनुरूप वो ठीक ठीक व्यवस्था करेगा तो परमात्मा नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव है वो बुद्ध स्वभाव वाला है ये भाव अपने आप में ईश्वर परिधान बनाने में बहुत सहायता करते वैसे तो परमात्मा का एक एक गुण ऐसा है कि उसको गंभीरता से ले लें तो ईश्वर परिधान एक गुण से भी बन जाता है और बहुत अच्छा बनता है लेकिन ईश्वर प्रणिधान और ईश्वर के बारे में जो व्यापकता है वो तब होगी जब हम इन सब गुणों को जो ऋषि लोगों ने लिखे हैं ऋषि लोग जिस तरह से परमात्मा को देखते थे जिस तरह से समझते थे क्यों वो परमात्मा और वेद और ईश्वर के प्रति इतने अधिक प्रभावित थे और सब कुछ उसी के लिए करते थे ये बोध हमें तब होता है जब उनके द्वारा दिए गए संबोधन को देखते हैं कि वो परमात्मा को कैसा समझते थे और ये तो हम अपने ढंग से जानने समझने का प्रयास कर रहे हैं ऋषि लोग और कितनी व्यापकता से इन संबोधनों को करते होंगे ये एक हमारे लिए कल्पना की बात हो सकती है संभावना की बात हो सकती है तो इस क्षेत्र में हमें परमात्मा के गुणों को अधिक अधिक जान करके उसके संबोधन को और अधिक अर्थ की भावना से युक्त बनाने का अवसर मिलता है और अधिक हम जितना सोचते हैं उतना कम लगता है परमात्मा के गुणों को बार बार बोलने का मतलब केवल ये नहीं कि उन शब्दों को दोहराते जाए अर्थ की भावना भी की जाती है और अर्थ की भावना में अर्थ की गहराई और ज्यादा और ज्यादा ज्यादा होती जाती है तब तो वही जप वही उच्चारण वही संबोधन हमें सार्थक लगेगा नहीं तो थोड़े दिन बाद उन शब्दों को बोलते हुए हम नीरस हो जाएंगे प्रभाव नहीं पड़ेगा तो इसकी गंभीरता जाते हुए अर्थ की भावना और अधिक और अधिक सतत चलती रहती है सतत चलती रहती है और वो चलती रहे ऐसे ही परमात्मा के बुद्ध स्वरूप को जानने के लिए हम और अधिक जानते जाए परमात्मा ये भी जानता है इतना जानता है इतना जानता है तो फिर हमारी दृष्टि में हमारे मस्तिष्क में विचार में परमात्मा के अतिरिक्त और कोई वस्तु घर नहीं कर सकती परमात्मा से अधिक और कोई हमें प्रभावित नहीं कर सकता परमात्मा के बुद्ध स्वभाव को मन में रखते हुए भावना के साथ ओम का उच्चारण करेंगे ओ